على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله अल्लाह रबालमीन का करम है उसी का फजल है कि तहफ़ ईमान के जज्बे के साथ हम इस इल्मी और फ़िक्री नशस्त में हाजिर हुए रबालमीन हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और हमारे जहनों को खोल दे और जो हक बात हम सुने उसे याद रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हमें ईमान का तहफ़ अता फरमाए और हमारी औलाद हमारी नस्लों और तमाम मुसलमानों को ईमान का तहफ़ अता फरमाए या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिब अलकलूब सबबित कल्बी अला दीनिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिस मौजू पर हम गुफ्तु करेंगे और हमारी ये नशस्त जिस मौजू पर मुनसर है जिस मौजू पर मुश्तमिल है वो मौजू बिदत का मौजू है बिदत किसे कहते हैं और बिदत के बारे में क्या हुक्म है लेकिन इस मौजू को सुनने से पहले इस बात को हम समझ लें कि बसा अवत ऐसा होता है कि एक हदीस की वजाहत दूसरी हदीस पाक में होती है और किसी मसले को समझने के लिए और किसी एक हदीस को समझने के लिए उस मौजू पर जितनी हदीसें हों उन तमाम हदीसों को सामने रखा जाए फिर वो मौजू समझ में आता है मसला नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुझे नसीहत फरमाइए आपने फरमाया ला तक दब तो कभी गुस्सा ना कर उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह फिर नसीहत फरमाइए कुछ और नसीहत फरमाए फरमाया ला दब तो गुस्सा ना कर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह और नसीहत फरमाइए फरमाया ला दब तो गुस्सा ना कर वो जितनी दफा पूछते रहे प्यारे आका यही फरमाते रहे गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर अब ये एक हदीस है मुकम्मल हदीस है अब इसमें जो कुछ हमने सीखा वो ये कि साहबी रसूल रसूलुल्लाह से पूछने के लिए आए कि मुझे नसीहत कीजिए तो हर दफा आपने यही नसीहत फरमाई गुस्सा ना कर इतना तो हमें इस हदीस से पता चल गया लेकिन अगर इस हदीस का कोई ये मतलब ले कि पता चला कि गुस्सा किसी हाल में नहीं करना चाहिए और गुस्सा करना हमेशा गलत है तो ये मतलब इस हदीस से अखज वो करेगा कि जिसने गुस्से के मुतालिक सारी हदीसों पर गौर नहीं किया अब उसे गुस्से का मसला समझना है तो क्या करें गुस्से के मुतालिक जितनी हदीसें हैं तमाम हदीसों को जमा करें और देखें कि गुस्से के बारे में किस मौके पर रसूलुल्लाह ने क्या इशात फरमाया तो फिर आपको यहाँ पर कैद लगानी पड़ेगी और आप इसकी तशरी में ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह ने यूं तो फरमाया गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर लेकिन दूसरी हदीसों से ये बात समझ में आती है कि यहां पर मुराद ये है कि नाजायज गुस्सा ना कर अपनी ज़ात के लिए गुस्सा ना कर यहां क्या मुराद है नाजायज गुस्सा ना कर अपनी ज़ात के लिए गुस्सा ना कर गुस्सा आ जाए तो गुस्से में किसी पर नाजायज जुल्म न कर अब ये इस हदीस में तो लिखा हुआ नहीं है इस हदीस में तो सीधा सीधा है गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर लेकिन ये मफहम हमने कहाँ से निकाला हमने गुस्से के मौजू पर सारे वाकयात और सारी हदीसों और सारी कुरान की आयतों को जमा किया तो फिर हमने ये मफहम निकाला क्योंकि एक हदीस को माने और दूसरी हदीस का इनकार कर दे ये भी गलत है एक कुरान की आयत को माने दूसरी कुरान की आयत का इनकार करें यह भी गलत है तो मफहम एक ऐसा निकालना चाहिए जो तमाम हदीसों और तमाम कुरान की आयात के मुताबिक हो तो जो हजूर ने फरमाया गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर इससे मुराद क्या है अपनी ज़ात के लिए गुस्सा ना कर नाजायज गुस्सा ना कर गुस्से में किसी पर जुल्म ना कर नाजायज हरकत ना कर गुस्से में जबान बेकाबू हो जाए हाथ बेकाबू हो जाए और किसी को नाजायज तौर पर मार दे ये मना है जहां तक ताल्लुक है गुस्सा अल्लाह के लिए हो उसके रसूल की मोहब्बत में हो दीन की मोहब्बत में हो तो इस गुस्से से कुरान हदीस ने मना नहीं किया लेकिन तमाम साहबाई कराम ने सबसे ज्यादा मुतहमल मिजाज सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाले साहबी हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तजरत उमर का जलाल मशहूर मरूफ है लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तर्दाश्त करने वाले और जब्त करने वाले साहबी हैं लेकिन हदीस बाग में क्या आता है तफसीर कुरतुबी में है अन अबा कुहाफत सबन नबी सल्लल्लाहु हजरत अबू बकर के वालद अबू कुहाफा ये उस वक्त काफिर थे इस्लाम नहीं लाए थे बाद में इस्लाम लाए तो जब काफिर थे तो उन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की फसक्कहू अबू बकरिन इब्नू सक्कतन तो हजरत अबू बकर जो कि उनके बेटे हैं लेकिन ये गुस्ताखी सुनकर उन्होंने बहुत जोर से थप्पड़ मारा अपने बाप को ये थप्पड़ गुस्से में मारा था प्यार से मारा था जोर से कहें और दूसरी हदीस में क्या है गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर अब इस हदीस में उन्होंने गुस्सा किया तो अब दोनों हदीसों से मफहम क्या निकला कि वो जो हुजूर ने फरमाया गुस्सा ना कर वो अपनी ज़ात के लिए मना था और ये गुस्सा इनका अल्लाह की रजा के लिए था ये गुस्सा रसूलुल्लाह की मोहब्बत में था फसक कहू अबू बकरीन इबन सक्कतन तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तुमने बहुत जोर से थप्पड़ मारा किसको मारा अपने बाप को मारा जिनके मुतालिक कुरान फरमाता है फला तकुल्लहुमा उफ अपने माँ बाप को उफ भी न कहो वला तनहर हुमा और इन्हें न झिड़कना वकुल लहुमा कौलन करीमा इनसे अदब और तज़ीम से बात करना वक़फ़िद लहुमा जना हजुल मिन रहमती इनके सामने आजजी से नरमी के बाजू बिछा कर रखना ये सारे आदाब के सिद्दीक अकबर को पता नहीं थे पता थे ना फिर थप्पड़ क्यों मार दिया इसलिए कि ये सारे आदाब जरूर हैं लेकिन गुस्ताख रसूल के लिए नहीं है जो नबी की गुस्ताखी करे मोमिन का यह मैार है कि उसे जलाल आना चाहिए क्योंकि वो नबी की मोहब्बत में जलाल आएगा अपनी ज़ात के लिए नहीं आ रहा तो क्या कहते हैं जोर से थप्पड़ मारा अपने बाप को फसाका तमीन आला वजही वो इतना जोर से जाकर दूर गिरे कि अपने चेहरे के बल गिरे तुम अतन नबीया फकर जालिक लहू फिर सिद्दीक अकबर हजूर के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने बाप को थप्पड़ मारा है इसलिए कि इसने आपकी गुस्ताखी की फ़काला रसूलुल्लाह ने फरमाया अब फालता हो क्या आपने ऐसा कर दिया ला तो दी ले ही अब आइंदा ऐसा ना करना वो नादान है अभी इस्लाम नहीं लाए तो वो मेरे बारे में इस तरह बोल देते होंगे तो कभी तुम्हारे सामने बोल दें तो ऐसा ना करना देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको डांटा नहीं बल्कि आपको नरमी से फरमाया कि ऐसा ना करना क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के लिए दरगुजर करने वाले हैं लेकिन मोमिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अब सिद्दीक अकबर का जवाब सुने फ़कान वल्लदी बाता का बिलहक नबीन उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा लवकान सईफ मिन्नी करीबन लकतल तो हो सैफ जो है तलवार को कहते हैं लवकान सईफ मिन्नी करीबन अगर तलवार मेरे करीब होती लकतल तो हूं तो मैं अपने बाप को कतल कर देता ये तो थप्पड़ी मारा है उस गुस्ताखी की तो थप्पड़ी मारा है अगर मेरे पास तलवार होती उस वक्त मैं इसकी गर्दन उड़ा देता अपने बाप की ये कौन कह रहे हैं सिद्दीक अकबर ये वो हैं जिनके मुताल हजूर ने फरमाया तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल आदा है ये वो हैं जिन्हें रसूलुल्लाह का सबसे ज्यादा फैज मिला जिन्होंने सबसे ज्यादा कुरान हदीस को समझा और जो तमाम साहबा में सबसे ज्यादा मुतहमल मिजाज बर्दाश्त करने वाले हैं लेकिन रसूल्ला की मोहब्बत में वो बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाते नहीं हैं तो यहां पर मालूम यह हुआ कि उस हदीस में है तो यूं कि रसूलुल्लाह ने सहाबी से फरमाया गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर लेकिन किसी एक हदीस से मसला नहीं निकाला जा सकता उस मौजू पर तमाम हदीसों कुरान की आयतों को पढ़ना होता है और फिर मुश्तहिद उन तमाम कुरान की आयतों और हदीसों से फिर एक मसला बयान करता है तो फिर वहां पर यह मसला बयान किया गया कि जो हुजूर ने फरमाया गुस्सा ना कर मतलब ये कि अपनी जात के लिए गुस्सा ना कर नाजायज गुस्सा ना कर गुस्से में किसी पर जुल्म न कर बाकी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए जो गुस्सा किया जाए इसकी ममानात नहीं है अगर होती तो सिद्दीक अकबर ऐसा ना करते अच्छा भाई सिद्दीक अकबर ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं गर्दन उड़ा देता तो रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया सिद्दीक क्या हो गया कैसी बातें कर रहे हो वो तुम्हारा बाप है और बाप के मुतालिक तो कुरान ने कहा उफ भी मत कहना और तुम कहते हो गर्दन उड़ा दूंगा बड़े जोश में आ गए हो आपने ये नहीं फरमाया बल्कि रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल हो गई और वो आयत सिद्दीक अकबर की फजीलत में नाजिल हुई और क्या आयत नाजिल हुई ला तजिद कौमई यु मिनून नबिल्ला वल यौमिल आखिर सुर मुजादला आयत नंबर बाईस अट्ठाईसवा पारा तीसरा रुकू ला तजिद कौमई यु मिनून बिल्लाही वल यौमिल आखिर युवादून मन व रसूल जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं कभी भी आप उनको अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से मोहब्बत करने वाला नहीं पाएंगे जो लोग अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं उन्हें कभी भी आप अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से मोहब्बत करने वाला नहीं पाएंगे वलऊ कानू आबा अहम अगरचे वो उनके बाप हों औ अबना अहम या उनके बेटे हों औ इखवान अहम या उनके भाई हों औ अशीरत हम या दीगर रिश्तेदार हों तो वो किसी से मोहब्बत नहीं करते चाहे बाप हो चाहे बेटा हो चाहे भाई हो चाहे रिश्तेदार हो अगर वो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है तो वो हमारा भी दुश्मन है हमारी मोहब्बत उसके लिए नहीं हो सकती फिर आगे क्या फरमाया उलाइक कतबफी खलूबहिमुल ईमाना यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को मजबूत कर दिया वह अयदम बिरूह मिन और इनकी जबरील अमीन के जरिए मदद फरमाई व युद्ध खिलुम जन्नात इन तजरीम इन तहतीहल अनहार खालिदीन अफीहा इन्हें अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें रवा दवा हैं हमेशा वो उसमें रहेंगे रदी अल्लाह व रदू आनहु अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हुए उलाइका हिजबुल्लाह ये अल्लाह वाले हैं ये अल्लाह का गिरोह है अला इन्ना हिजबल्लाहुल सुन लो अल्लाह का गिरोह ही कामयाब गिरोह है तो सिद्दीक अकबर की फजीलत में यह आयत करीबा नाजिल हुए तो हमने ये जो मौजू उठाया इसलिए उठाया बिदत को समझाने के लिए पहले जिमनन एक बात समझ लें जब गुस्से की बात चली तो हमारे यहाँ पर होता क्या है हम किसी के यहाँ शादी में गए और उसने सही तरीके से हमारा इस्तेबाल नहीं किया दावत में गए हमारी आओ भगत सही तरीके से नहीं की तो हम उसकी हर दावत का बाइकआउट कर देते हैं मुंह चढ़ा लेते हैं किसी के यहाँ गए और चाय का नहीं पूछा तो हम कहते हैं कि अल्लाह की कसम हम उसके घर पे ही नहीं जाएंगे छोटी छोटी बातों में हम रिश्तेदारी तोड़ देते हैं लेकिन बताइए ये सारा गुस्सा किसके लिए है अपनी जात के लिए कोई हमें गाली दे दे तो हम ताल्लुक ताल्लुकी कर लेते हैं कोई हमारे बाप को गाली दे दे बुरा कह दे चले गाली भी ना दे ऐसी बात कह दे मसलन हमारे बाप की तोहन कर दे या मजाक उड़ा दे तो हम कहते हैं मैं एक गैरतमंद बेटा हूं मुझ में गैरत है मैं अब इससे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा ईद के दिन इससे गले भी नहीं मिलूंगा इसकी मौत मैयत में भी नहीं जाऊंगा अगर मैं गया तो मैं गैरत और शर्म से आ रही बेटा हूं मैं ये सारा गुस्सा किसके लिए है जात के लिए लेकिन जब आती है अल्लाह और उसके रसूल की बात तो कहते हैं नहीं जनाब इतना नहीं जलाल में आना चाहिए नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए नफरतें नहीं होनी चाहिए मोहब्बतें होनी चाहिए प्यार होना चाहिए मिलजुल के रहना चाहिए अब वो नबी का गुस्ताख है तो अपनी जगह पर है तुम्हारा तो रिश्तेदार है ये बातें हमें नबी की गुस्ताखी में या अल्लाह की गुस्ताखी के मामला में तो समझ में आ जाती हैं लेकिन वो हमारी हमारे माँ बाप की गुस्ताखी करते तो हम किसी की बात नहीं सुनते तो पता चला कि हमें अपनी ज़ात से मोहब्बत ज़्यादा है रसूलुल्लाह से मोहब्बत कम है अगर हमें मोहब्बत का वो जुज मिल जाता कि फरमाया कि उस वक्त तो बंदा मोमिन नहीं होता जब तक कि तमाम लोगों से बढ़कर खुद अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे तो रसूलुल्लाह से प्यार होगा तो बताइए जो रसूलुल्लाह की बेअदबी करे उसे हाथ बंदा कैसे मिला सकता है उसे दोस्ती कैसे कर सकता है ये तो इश्क मोहब्बत के खिलाफ है खैर बात ये चल रही थी कि हदीस में मुतलकन फरमाया गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर इस हदीस को पढ़कर अगर कोई ये कह दे कि गुस्सा हर हाल में हराम है और गुस्सा करना हर हाल में नाजायज है तो उसे हम ये कहेंगे कि एक हदीस पढ़कर मसला बयान नहीं किया जा सकता जब तक के उस मौजू पर कुरान की सारी आयतें और अहादीस पेश नज़र न हो तो जब हमने सारी कुरान की आयतों और अहादीस को पेश नज़र किया तो पता चला कि जो हजूर ने फरमाया ला तक दब ला तक दब गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर इससे मुराद अपनी ज़ात के लिए गुस्सा ना कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुस्से का इजहार करना इसी तरह अपने बच्चों की तरबियत के लिए गुस्से का इजहार करना तो से बाग में है ना कि बच्चा सात बरस का हो जाए तो नमाज की तलकीन करें और दस बरस का हो जाए तो क्या करें अगर नमाज ना पढ़े तो मारें इसी तरह बच्चा अगर स्कूल ना जाता हो तो बताइए हमें कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है कि नहीं तो ये गुस्सा हमारी जात के लिए नहीं है ये बच्चे की तरबियत के लिए कि बच्चा बिगड़ जाएगा अगर बच्चा हमारा किसी बड़े के सामने बदतमीजी करे तो हमें गुस्सा आता है हम गुस्से का इजहार करते हैं क्योंकि अगर हमने गुस्से का इजहार नहीं किया तो बच्चा मजीद बदतमीज हो जाएगा तो ये गुस्से का इजहार बच्चे की तरबियत के लिए ना कि अपनी ज़ात के लिए तो ये सारे गुस्से के इजहार जायज़ हैं अब हम समझ लें कि हदीस पाक है कुल्लु बिदतिन दलाला हर बिदत गुमराही है तो यहाँ बिदत से क्या मुराद है अगर इसी एक हदीस को हम अपने हाथ में ले लें और बाकी बिदत के मौजू पर जितनी अहदीस तयबा और जितने साहबा कराम के अखबाल हैं सबको हम छोड़ दें तो फिर हो सकता है इस हदीस का कोई गलत मतलब ले ले पहला तो सवाल यह है कि कुल्लु बिदातिन दलाला से भाई बिदत से क्या मुराद है बिदत अरबी लफ्ज है और अरबी लफ्ज जब कुरान और हदीस में इस्तेमाल होता है तो बाद अल्फाज वो होते हैं जिनके डिक्शनरी के माना किए जाते हैं और बाद अल्फाज वो होते हैं जिनके शरयी माना किए जाते हैं कभी कभी डिक्शनरी का माना करें तो मतलब बदल जाता है मसलन अकीमुसलाह इसका तर्जमा हम क्या करते हैं नमाज कायम करो लेकिन असला का डिक्शनरी में लुगत में नमाज तर्जमा है ही नहीं इसका तर्जमा है दुआ इसका तर्जमा है आग जलाना इस तरह के मुख्तलिफ तर्जमे हैं लेकिन यहां पर हम दुआ तर्जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये असला जो है ये शरय एक अतलाह है तो जो रसूलुल्लाह ने इसका तर्जमा किया वही हमें करना होगा कि सलाह जो है एक पूरी नमाज है इसमें रुकू भी है सज्जा भी है क्याम भी है किरात है पूरा तरीका नमाज वह आत जका जका डिक्शनरी के अंदर लुगत के अंदर अरबों की लुगत में जका का जो तर्जमा है वो है पाकिजगी तो अब यहां पर हम तर्जमा ये नहीं कर सकते बल्कि हमें ये देखना होगा कि रसूलुल्लाह ने जक़ात से क्या मुराद बयान की तो आपने जक़ात फरमाया एक मखसूस माल का हिस्सा अल्लाह की राह में सालाना तौर पर निकालना और इसका पूरा तरीका यह है जक़ात अगर कोई यहां पर वातुस जका का तर्जमा करे पाकिजगी तो फिर वो गुमराह हो जाएगा और वो आगा खानियों की तरह हो जाएगा कि वो कहते हैं अकीम उसला का मतलब नमाज नहीं बल्कि दुआ मांगा करो और वह आतुस जका का मतलब ये कि पाक रहा करो तो ना जक़ात फर्ज हुई ना नमाज फर्ज हुई नऊज़बिल्लाजाल इसी तरह वह अतिमल हज हज का माना है इरादा करना क्या माना है इरादा करना डिक्शनरी में यही मतलब है लेकिन जब हम कुरान में हज और हदीस में हज पढ़ेंगे तो हम मखसूस इबादत मानेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह ने इसका यह माना किया इसकी बेशुमार मिसालें हैं कोई एक दो मिसालें नहीं बहुत सारी मिसालें हैं जैसे मिसाल के तौर पर रिबा का मतलब है इजाफा रिबा का मतलब क्या है माल में इजाफा होना उर्दू में इसका हम तर्जमा अब रिबा का तर्जमा हम माल में इजाफा नहीं करते सूद करते हैं तो रिबा की एक डेफिनेशन है जो रसूलुल्लाह ने बयान की तो अब जब हम रिबा पढ़ते हैं कुरान पाक में तो रिबा से मुराद है वो सूद जो नाजायज माल में इजाफा होता है सोम के माना है रुकना सोम के माना क्या है रुकना लेकिन जब हम कुरान हदीस में सोम पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा रुकना नहीं करते रोजा करते हैं गो के रोजे में भी रुकना है लेकिन एक मखसूस अंदाज में मखसूस चीजों से रुकना ये रोजा है तो इसी तरह कुल्लू बिदातिन दलाला तो लफ्ज बिदत का तर्जमा लुघवी नहीं होगा बल्कि वो तर्जमा होगा जो अल्लाह के रसूल ने किया वो तर्जमा होगा जो साहबा कराम ने बयान किया तो यहां बिदत से क्या मुराद है बाद लोगों ने कहा जनाब बिदत से मुराद ये है कि हर वो नया काम हर वो नया काम जो बिदत की गलत तारीफें हैं वो पहले आप समझ लें जी बिदत से मुराद है हर वो नया काम जो रसूल्लाह ने न किया हो और बाद वाले करें वो बिदत है हर वो नया काम जो रसूलुल्लाह ने ना किया वो बाद वाले नया काम करें वो बिदत है लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में आप देखेंगे तो ये तारीफ गलत है इसलिए कि इस तारीफ के अंदर दीनी दुनियावी की कोई तखसीस नहीं है हर वो दीनी काम नहीं कहा बल्कि क्या कहा हर वो काम जो रसूलुल्लाह ने ना किया बाद वाले करें बिदत है तो बहुत सारे दुनियावी काम और बहुत सारी इजादात ऐसी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसलम वसल्लम ने इस्तेमाल ना फरमाई या काम ना किए दुनियावी काम तो अब हम करते हैं तो जब ये एतराज पैदा होगा तो सामने वाला तारीफ को बदल देगा और कहेगा हर वो दीनी काम हर वो दीनी काम जो रसूलुल्लाह ने ना किया हो और बाद में हम करें तो वो बिदत है तो सवाल यह है कि रसूलुल्लाह ने बहुत सारे ऐसे दीनी काम नहीं किए जिन्हें साहबा कराम ने किया तो क्या साहबा कराम बिदती हो गए तो वो अब सामने वाला फिर तारीफ को बदलेगा और कहेगा हर वो दीनी काम के जो हुजूर ने और साहबा कराम ने न किया और फिर बाद वाले करें वो बिदत है तो फिर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ताबईन ने किए लेकिन हुजूर ने और साहबा कराम ने न किए तो वो अपनी तारीफ में ताबईन का इजाफा कर देगा फिर हम कहें तबा ताबईन ने बहुत सारे ऐसे काम किए दीनी काम के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि साहबा और ताबईन ने न किए तो वो फिर अब एक और कैद बढ़ा देगा तब अताबईन की अब जदीद तारीफ आ गई कि हर वो काम जो रसूलुल्लाह ने ना किया हो साहबा कराम ने ना किया हो ताबईन ने ना किया हो तब अताबईन ने ना किया हो और बाद वाले अगर उसे ईजाद करें तो ये बिदत हो गया मजे की बात यह है ये तारीफ किसी हदीस से साबित होती नहीं जो ये तारीफ करे उसके सामने कहे मुझे रसूलुल्लाह का फरमान सीधा सीधा बता दे कि रसूलुल्लाह ने अगर ये कहा हो कि मेरे ज़माने में मेरे ज़माने के बाद साहबाई कराम का ज़माना फिर ताबईन का ज़माना फिर तबा ताबईन का ज़माना ये चार ज़माने हैं इन चार ज़मानों के बाद जो भी नया काम ईजाद किया जाएगा वो बिदत है ये तारीफ रसूलुल्लाह ने या सहाबी ने कभी बयान नहीं की तो कोई भी ये तारीफ करता है तो उसे साबित नहीं कर सकता लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रसूलुल्लाह के दौर में न हुए साहबी के दौर में ना हुए ताबईन और तबा ताबईन के दौर में ना हुए बाद में हुए और सारी उम्मत कर रही है तो अब तारीफ बनाने वाले ने एक नई तारीफ और ईजाद की उन्होंने कहा कि ये तारीफ के अंदर एक और चीज ऐड कर दें वो ये कि उस वक्त इस काम की जरूरत भी थी क्या जनाब उस वक्त उस काम की जरूरत भी थी और अगर उन्होंने ना किया तो बाद में ईजाद करना भी बिदत है और अगर उस वक्त जरूरत ना थी और बाद में जरूरत पैदा हो गई तो जरूरत से ईजाद करने में कोई हरज नहीं ये एक जदीद बिदत की मुखालिफी ने तारीफ पैदा की जरा इस तारीफ को फिर समझे हजूर के दौर में साहबा के दौर में ताबईन के दौर में तबा ताबईन के दौर में इन चार दौरों में पहले तो वो कहते थे हुजूर के दौर में जो चीज़ ना हुई बाद में हुई सब बिदत तो जब सवाल पैदा हुए तो फंसते गए फंसते गए फंसते फंसते यहां तक पहुंच गए अब चार दौर रह गए तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो वो भी करते हैं लेकिन ना हुजूर के दौर में ना साहबा के दौर में न ताबईन न तबा ताबीन के दौर में कि चार अदवार में नहीं होते थे तो उन्होंने कहा कि चार दौर में अगर काम नहीं होता था और उसकी जरूरत थी फिर भी नहीं किया गया तो बाद में अगर कोई करेगा तो ये बिदत और अगर उन चार दौरों में उसकी जरूरत ना थी बाद में जरूरत पैदा हो गई तो जरूरत से दीनी काम ईजाद किया जा सकता है लेकिन फिर वही सवाल ये तारीफ कुरान हदीस और किसी साहबी के कौल से साबित नहीं होती ये अपनी सोच की तारीफ है फिर इस तारीफ पर भी बहुत सारे एतराज होते हैं मसलन देखें इन चार अदबार के अंदर जुमे की नमाज से पहले अरबी में खुतबा होता था किस में होता था अरबी में फारिस फतह हो चुका था जिसकी जबान फारसी थी रूम फतह हो चुका था जिसकी जबान रूमी थी और मुख्तलिफ ममालिक फतह हो चुके थे जिनकी जबान अरबी नहीं थी लेकिन जुमे की नमाज से पहले जो वाज होता था जो खुतबा होता था सिर्फ और सिर्फ किस में अरबी में मादरी जबान में वाज न रसूल्ला ने किया न साहब कलाम के दौर में हुआ न ताबईन के दौर में न तबा ताबईन के दौर में बताइए उस वक्त इसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी भाई लोग अरबी नहीं जानते थे और अब तो अरबी ज़बान सीखने के कितने ज़रा हैं इंटरनेट पे बंदा अरबी सीख सकता है किताबें मिलती हैं क्लासे ले सकता है अरबी सिखाने का कितना इंतज़ाम है उस जमाने में तो अरबी सीखना कितना मुश्किल काम था कि उसके लिए वो मक्के मदीने जाए और जाकर अरबी सीखे और फारसी अरबी कैसे सीखे लेकिन उस वक्त जरूरत भी थी लेकिन जुम्मे की नमाज से पहले मादरी जबान में वाज कभी नहीं हुआ ये बात की ईजाद है तो उन्होंने तारीफ क्या की थी जिस चीज की जरूरत हो और साहबा ने ना किया हो और बाद वाले अगर वो चीज करें तो ये बिदत हो गई तो देखो साहबा कराम के दौर में जरूरत थी कि नहीं थी इस चीज की फिर भी नहीं किया अच्छा ये बताइए कि हजरत उमर रजी अल्लाह के दौर में मुल्क फारिश जो फतेह हो चुका मुल्क रूम फतेह हो चुका उनको कुरान का तर्जमा करने की जरूरत थी कि नहीं थी यही जरूरत ताबीन के दौर में थी यही जरूरत तब ताबीन के दौर में थी लेकिन कुरान का तर्जमा सौ बरस तक नहीं किया गया मुसलमानों में आम नहीं किया गया अरबी में ये कुरान लिखा जाता उसके साथ तर्जमा नहीं लिखा जाता तो बताइए जरूरत थी कि नहीं थी तो क्या तो कोई यूं कहेगा कि भाई कुरान के तर्जमे की उन्हें जरूरत थी फिर भी उन्होंने नहीं किया लिहाजा बाद वाले करेंगे तो वो बिदती हो गए क्या हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत उनसे ज्यादा है तो ये तारीफ भी गलत है और इस पर कई एतराजा उठते हैं तो असल तारीफ क्या है किसी डेफिनेशन को हदीस में कोई लफ्ज हो उसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि हदीस से समझा जाए तो पहले तो हम एक मिसाल देते हैं हदीस शरीफ मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 187 और मुस्नद इमाम अहमद चौथी जिल सफ़ा नंबर 105 मा अहदस कौम आतन इला रुफिया मिसलुहा मिन सुन्नति जब कोई कौम बिदत पैदा करती है तो सुन्नत उठ जाती है जब कोई कौम बिदत ईजाद करती है तो सुन्नत चली जाती है इस हदीस से पता चला कि बिदत वो होती है जो सुन्नत को मिटा दे बिदत किसे कहते हैं जो सुन्नत को मिटा दे तो हर वो नया काम जो सुन्नत को मिटाने के लिए हो सुन्नत के मुखालिफ हो वो बिदत है ये रसूलुल्लाह ने खुद इसकी तारीफ फरमाई दूसरी तारीफ देखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मन आहदासा फी अमरीना हादा जो हमारे दीन के मामलात में कोई नया काम ईजाद करे माँ लई समिन हो जो उससे न हो यानी उसके उसूल के मुताबिक न हो दीन में उसकी असल मौजूद न हो फहु रद्दन तो वो मरदूद है इस हदीस का हवाला नोट कर लें फिर हदीस को मिसालों से समझाते हैं बुखारी शरीफ हदीस number two six nine seven बुखारी शरीफ हदीस number two six nine seven मुस्लिम शरीफ वन सेवन वन एट अबू दाऊद शरीफ हदीस number four six zero six four six zero six इबन माजा हदीस नंबर चौदह मुस्नद इमाम अहमद छठी जिल सफ़ा नंबर दो सौ सत्तर मुस्नद इमाम अहमद छठी जिल सफ़ा नंबर दो सौ सत्तर मन अहदस फी अमरीना हाजा जो हमारे दीन के मामलात में कोई नई चीज ईजाद करे माँ लई समिन हो जो उस दीन के उसूल से ना हो फहु रद्दन तो वो मरदूद है मसलन अब देखें एक शख्स जो है तबलीग दीन करता है तो तबलीग दीन के लिए कितने नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं जो रसूल सल्ला वसलम ने बयान नहीं किए लेकिन तबलीग दीन करने वाला दीन का पैगाम आम करने वाला नए नए अंदाज में वो इस काम को करता है मसलन आप यही देख लें कि जुम्मे की नमाज से पहले मादरी जबान में वाज होता है जो चार अदवार में नहीं होता था इसी तरह कुरान का तर्जमा मुख्तलिफ मादरी जबान में और कुरान के साथ मादरी जबान में तफसीर लिखी हुई ये चार अदवार में ये तरीका नहीं था इसी तरह मुख्तलिफ नमाजों के बाद दरस कुरान का सिलसिला जैसे हमारे यहाँ फजर की नमाज के बाद चार महीने तक खुशगवार ज़िंदगी प्रोग्राम पुरबहार ज़िंदगी प्रोग्राम होता है जिसमें पूरे कुरान का तर्जम और तफसीर बयान की जाती है इसी तरह रमज़ान मुबारक में यादगार रमज़ान की जिसमें हर चार रकात से पहले एक पाओ का तर्जम और तफसीर और फिर एक पाओ हम तरावी में खड़े होकर समाप्त करते हैं बाज़ जगहों पर तरावी पढ़ा दी जाती है और तरावी के बाद पूरे पारे का खुलासा बयान किया जाता है ये काम न रसूल्ला ने किया न साहबा ने किया न ताबईन ने न तबा ताबईन ने लेकिन असल मौजूद है असल क्या है कुरान की मोहब्बत लोगों में लोगों के दिलों में डालना दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करना दीन का पैगाम आम करना ये असल है ये बुनियाद है ये समझिए ये जड़ है और ये मुख्तलिफ इसकी शाखें हैं तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मन फी अमरिना हादा मा लैस समिनु जिसने हमारे दीन के मामलात में ऐसा तरीका ईजाद किया जो इसकी असल से ना हो तो तबलीग दीन तो असल है इसकी असल मौजूद है इस्लाम का पैगाम आम करना चाहिए अब दौर के तकाजे के मुताबिक जिस अंदाज में जो भी जायज तरीका है और जो कुरान और हदीस से टकराता नहीं वो तरीका इख्तियार करने में कोई हरज नहीं देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की ताजीम का हुक्म दिया और लोगों के दिलों में मस्जिद की अजमत बैठ जाए ये इस्लाम चाहता है लेकिन इन चार अदवार के अंदर हम देखें तो खसूस रसूलुल्लाह के दौर में और साहबा कराम के दौर में इमाम के खड़े होने की जगह पर इस तरह मेहराब नहीं बनाई जाती थी मीनार नहीं होते थे और गुम्बद मस्जिद पे नहीं होते थे लेकिन आज ये तीनों काम हर जगह किए जाते हैं असल मौजूद है असल क्या है मस्जिद की ताजीम तोकीर मस्जिद की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालना इसी असल की वजह से बुजुर्गान दीन ने लिखा कि रसूलुल्लाह के दौर में मस्जिद बड़ी कच्ची बनती थी कच्ची मस्जिद होती थी कच्ची छत होती थी बारिश होती थी तो बारिश का पानी मस्जिद में आता था लेकिन उस दौर में लोगों के घर भी जो है इसी तरह होते थे तो उन्होंने फिर ये उसूल बनाया कि मस्जिद इस दौर में ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के घरों से अच्छी होनी चाहिए मस्जिद ताकि बंदा जब घर से मस्जिद में आए तो उसका दिल मस्जिद में लगे उसे घबराहट महसूस ना हो तो असल मौजूद है मस्जिद की मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल करना हाँ तरीके मुख्तलिफ हैं ये तरीके रसूलुल्लाह के दौर में और साहब कराम के दौर में नहीं थे तो क्या फरमा मन आहदसफ़ी अमरीना हाजा हमारे दीन के मामला में जिसने कोई नई चीज़ ईजाद की माँ लई समिनो जो उसकी असल से ना हो यानी जिसकी असल दीन में मौजूद ना हो फ रद्दन तो मरदूद है अब आप बताइए कि हम महफिल मिलाद करते हैं आप बारहवीं शरीफ की महफिल करते हैं बारहवीं शरीफ जुलूस निकालते हैं आप नाते पढ़ते हैं आप जलसा सीरत नबी करें या महफिल मिलाद करें आप ये सारे जो प्रोग्राम करते हैं या अजान से पहले अजान के बाद दरुद सलाम पढ़ना या जुमे की नमाज के बाद दरुद सलाम पढ़ना बताइए ये सारे काम रसूलुल्लाह की मोहब्बत बढ़ाने के लिए हैं कि नहीं है रसूलुल्लाह की तज़ीम और मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ाने के लिए है कि नहीं है तो मस्जिद की अजमत बढ़ाने के लिए हमने मीनार भी बना लिए गुम्बद भी बना लिए मेहराब भी बना लिए जो रसूलुल्लाह और साहब कराम ने नहीं बनाया कुरान की अजमत बढ़ाने के लिए कुरान पर जबरदेर पेश भी लगा लिए तर्जमा भी कर लिया तफसीर भी लिख दी और कुरान के दर्स के मुख्तलिफ अंदाज यादगार रमज़ान खुशगवार ज़िंदगी प्रोग्राम नूर कुरान नशेज बहुत सारे एहतमाम किए गए इसी तरह रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अजमत बताइए बारहवीं शरीफ का जब महीना आता है रबी अव्वल का महीना तो मुसलमानों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता है कि कमी होती है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इजाफा करना ये इस्लाम की असल है कि नहीं है अब साहब कराम भी रसुल्ला की मोहब्बत और अजमत बढ़ाने की कोशिश करते थे तो अब इस दौर में दौर के तकाजों के मुताबिक जिस तरह कोशिश की जाए अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं अच्छा फिर ये भी याद रखें कि बसा अवकात लफ्ज बिदत जो है लफ्ज बिदअत ये दो माना में इस्तेमाल होता है एक होता है बिदत सई और एक है बिदत हसना ये दो हिस्सों में बिदत को तकसीम किया गया तो जहां जहां कुरान और हदीस की रोशनी में साहब कराम के अकवाल हैं और बिदत की मजम्मत है उससे मुराद बिदत सयाह की मजम्मत है बिदात सयाह बुरी बिदत यानी ऐसा नया काम ईजाद करना कि जिससे सुन्नत मिट जाए खिलाफ सुन्नत हो शरीयत को मिटाने के लिए हो दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए हो वो बिदत सयाह है तो जैसे कुल्लू बिदतिन दलाला तो इससे मुराद है हर बिदत सयाह गुमराही है लेकिन हर वो नया काम हर वो नया काम कि जो रसूलुल्लाह के दौर में तो ना हुआ लेकिन बाद में ईजाद किया गया और वो है तो नया मगर उसकी असल इस्लाम में मौजूद है बोले उसकी असल इस्लाम में मौजूद है कुरान हदीस में उससे मना नहीं किया गया तो उसे बिदत हसना कहेंगे अगर कोई ये कहे कि जनाब बिदत तो बिदत होती है बिदत अच्छी तो हो ही नहीं सकती बिदत की तो मजम्मत है तो हम उसके सामने ये हदीस पेश करेंगे बुखारी शरीफ किताबो सलात तरावी नमाज तरावी का चैप्टर बाबू फदली मनकाम रमदान जिसने तरावी का अहतमाम रमदान में किया उसकी फजीलत का चैप्टर इमाम बुखारी सलात तरावी में ये बात लिखते हैं इस हदीस का खुलासा इस मतलब रिवायत का खुलासा यह है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु ने आपने अहतमाम के साथ कभी तरावी की जमात नहीं करवाई हदीस पाक में है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन रात को अपने हुजरे के बाहर आप तरावी अदा कर रखे थे कुछ सहाब कराम ने देखा तो वो रसूलुल्लाह के साथ शामिल हो गए फिर दूसरी रात रश और ज्यादा हो गया तो मस्जिद में तरावी अदा की गई इन उसका ऐलान नहीं किया गया था ये लोग खुद ही आ गए और तीसरे दिन ये हुआ कि इतने लोग आए कि मस्जिद में पांव रखने की जगह न थी तीन दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी इस तरह पढ़ाई और अब आपने फरमाया कि तुम अपने घरों में तरावी पढ़ो और फिर चौथे दिन आप अपने हुजरे से बाहर तशरीफ न लाए तो रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी में जाहिरी हयात में सिर्फ तीन दिन तरावी की जमात करवाई वो भी एहतमाम के साथ नहीं लोग जमा हो गए तो वो जमात में शरीक हो गए सिद्दीक अकबर के पूरे दौर के अंदर तरावी साहबा कराम अपने अपने तौर पर पढ़ते थे लेकिन मस्जिद नबी में एक इमाम के पीछे सारे तरावी पढ़ते हों और उस तरावी में पूरा कुरान खत्म होता हो यह सिद्दीक अकबर के दौर में रिवाज नहीं था हजरत उमर रदी अल्लाह के दौर में भी शुरू में ये रिवाज नहीं था हजरत उमर एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि लोग इनफरादी तौर पर तरावी अदा कर रहे हैं कहीं कहीं दो तीन अपराध मिलकर के तरावी अदा कर रहे हैं टोलियां टोलियां बनी हुई हैं तो आपने लोगों से कहा कि क्या यह एक अच्छी बात नहीं है कि मैं एक इमाम मुकर करता हूं और वो तुम्हें पूरे पूरे महीने रमजान मुबारक में तरावी पढ़ाए और पूरा कुरान तुम्हें सुना दे लोग राजी हो गए तो आपने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह को मुकर किया और उनसे फरमाया कि आप तरावी पढ़ाए हजरत उमर पीछे आप खड़े हुए और फिर यह सिलसिला शुरू हुआ कि आपने तरावी की बीस रकातें यानी बीस रकातें हजरत उबई बिन का आपने पढ़ाई और ये सिलसिला जो है आज तक मस्जिद नबी में और मक् मुकरमा में जारी व सारी है आप देखें कि सऊदी अरबिया में जितनी दूसरी मस्जिदें हैं वहां पर आठ रकात तरावी पढ़ी जाती है लेकिन मस्जिद हराम में और मस्जिद नबी में बीस रकात तरावी पढ़ाई जाती है क्योंकि ये तरीका हजरत उमर के दौर से जारी है वो इसको बदलने की ताकत नहीं रखती तो अगर तरावी आठ रकात होती तो हजरत उमर बीस रकात क्यों पढ़ाते तो हजरत उमर के रसुल्ला की सुन्नत के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं फिर आपने देखा होगा कुरान पाक में जगह जगह आइन लिखा हुआ होता है इससे मुराद रुकू तो भाई रुकू में तो रा होना चाहिए क्या होना चाहिए रुकू में क्या होना चाहिए रुकू का शुरू लफ्ज क्या है रा आइन क्यों लिखा जाता है क्योंकि जो बीस रकात तरावी का आपने हुक्म दिया था और हजरत उबई बिन का बीस रकात जो तरावी फरमाते थे तो जिस जितना कुरान पढ़ के वो रुकू करते थे वो यही जगह है जिसका निशाना कुरान में जो मौजूद है तो वो हजरत उमर की नस्बत से आइन लिखा जाता है बास कहते हैं रुकू के अंदर आखिर में आइन है और बास कहते हैं कि ये चूंकि उमर रदी अल्लाह तारा ने ये बिदत हसना जारी फरमाई एक अच्छा तरीका ईजाद किया तो इनकी याद में आइन लिखा जाता है और ये बताया जाता है कि अगर आप कुरान के जितने रुकू हैं इसको टोटल करें और फिर रमजान मुबारक के तीस दिन है अगर आठ रकात तरावी पड़ी जाती होती तो फिर रुकू बड़े बड़े होते तो ये रुकू आप अगर टोटल करेंगे और तरावी की बीस रकातें से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हजरत उमर के दौर में बीस रकातें ही तरावी पड़ी जाती थी तो जो आज बीस रकात तरावी पढ़ते हैं वो साहबा कराम के नक्शे कदम पर है और जो बेचारे आठ पढ़ते हैं वो हदीस को समझे नहीं है हदीस में तहजद का जिक्र है हजरत आयशा फरमाती हैं कि रमज़ान हो गैर रमज़ान रसूलुल्लाह ग्यारह रकात रात को उठकर ग्यारह रकात पढ़ा करते थे तो आठ रकात तहजद और तीन रकात वितर फिर बड़ी हैरत अंगेज बात है आपको भी हैरत होगी कि वो इस हदीस से वो तरावी का मसला लेते हैं लेकिन सवाल ये कि हदीस में फी रमज़ान व फी गैर रमज़ान रसूलुल्लाह ये ग्यारह रकतें रमजान में भी पढ़ते और रमजान के अलावा में भी पढ़ते तो तरावी तो सिर्फ रमजान में होती है तो ये नमाज तहजद है और फिर दूसरी हैरत की बात यह है कि इस हदीस से वो तरावी तो साबित करने की कोशिश करते हैं लेकिन वितर एक रकात पढ़ते हैं हालांकि इसमें वितर कितनी रकत है तीन रकत है तो तीन रक़तें वितर भी पढ़ना साबित है और बीस रकात तरावी और आठ रकात नमाज तहजद असल में एक दो हदीस इंसान पढ़ता है तो उसे इतनी दीन की समझ हासिल नहीं होती जब तक वो कुरान और हदीस पर मुकम्मल उबूर न रखे तो अब हज़रत उमर रदी अल्लाह तला ने यह तरीका ईजाद किया इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं हज़रत उमर अब मस्जिद में आए तो देखा कि उबई बिन काब के पीछे सब नमाज पढ़ रहे हैं आपने कहा नमल बिदात हाजी ही इस अल्फाज को दोहराए नमल बिदात हाजी ही नेमा माने अच्छी हाजी माने ये नेमल आतु हाजी फिर बोले ये अच्छी बिदत है ये किसने कहा बिदत तो हर बुरी होती है तो हजरत उमर ये क्यों कह रहे हैं नियमल बिदत हाजी हजरत उमर को नहीं पता था कि बिदत तो हर बुरी है रसुल्ला वरना कुल्लु बिदत इन दलाला हर बिदत गुमराही है तो रसुल्ला तो फरमाए हर बिदत गुमराही है और हजरत उमर कहते हैं नियमल बिदत हादे की अच्छी बिदत है मतलब यह था कि हजरत उमर जानते थे कि जो रसुल्ला ने फरमाया ना कुल्लू बिदत इन दलाला इससे मुराद हर बिदत नहीं है बिदत सैया हर बुरी बिदत गुमराही है और ये एक अच्छी बिदत का जिक्र है मतलब ये कि एक ऐसा तरीका है जो रसुल्ला ने नहीं किया हजरत उमर ने ईजाद किया लेकिन इससे रसुल्ला ने मना नहीं किया और ऐसा करने से सुन्नत मिटती नहीं है ऐसा करने से सुन्नत मिटती नहीं है ऐसा करने से दीन को नुकसान नहीं होता अब जब लोग बिदत के मफहम को नहीं समझते तो इससे बड़ा नुकसान होता है ये वाकया आपने कैसेट में भी सुना होगा इसको फिर सुन लें एक साहिब एक जगह पर गए और वो रमज़ान मुबारक में तरावी हो रही थी तो हुआ ये कि आमतौर पर हमारे यहाँ ये मामूल है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कि अगर पहली या दूसरी रकात में सज्जा तिलावत हो तो इमाम ऐलान करता है कि पहली या दूसरी रकात में सज्जा तिलावत अदा किया जाए इमाम ने ऐलान नहीं किया अब मस्जिद बड़ी थी कुछ लोग ऊपर होंगे तो आपने देखा होगा लोग जो है अल्लाह अकबर सुनते आगे पीछे देखते नहीं है ये तो आपने देखा ही होगा ना कि जैसे वितर पड़ी जाती है और रमजान में वितर जमात से पढ़ते हैं तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब वितर की दुआए कनूद की तकबीर दी जाती है वो रुकू में चले जाते हैं ऐसा होता है कि नहीं तो लोग बिल्कुल अपनी धुन में होते हैं तो उन्होंने ऐलान तो किया नहीं अब जैसे ही उन्होंने सज्जे के लिए अल्लाह अकबर किया तो बहुत सारे लोग रुकू में चले गए और कुछ लोग सज्जे में चले गए जो करीब थे वो सज्जे में चले गए वो दूर थे वो रुकू में चले गए अब जब आदमी रुकू में जाता है तो रुकू से इमाम खड़ा होता है तो क्या कहता है समी अल्लाहमन हमिद और सज्जा तिलावत किया हो और वहां से खड़ा हो तो क्या कहेगा अल्लाह अकबर तो रुकू में थे और इमाम ने कहा अल्लाह अकबर तो इन्होंने कहा ये क्या हो गया पता चला ओहो हमने सज्जा तिलावत तो किया नहीं अब मसला तो मालूम नहीं था और ऐसे मौक़ों पर आपने देखा होगा कि गाड़ी चलानी हो तब भी पूछ के चलाते हैं और दीन पर अगर गुफ्तु करनी हो तो हर कोई अपनी मर्जी से करता है भाई कंप्यूटर भी हमारे घर पर आ जाए तो लोग उसकी गाइड बुक देखते हैं पूछ के चलाते हैं कहीं खराब ना हो जाए और दीन के मसले नमाज के मसले में जिसका मुंह जिसका दिल जो चाहता है बोल देता है तो लोगों ने आवाजें देनी शुरू कर दी तोड़ो भाई तोड़ो नमाज तोड़ो दोबारा करो भाई तुम्हारा सज्जा निकल गया किसी जगह जी सज्जा कर लो तो ये लोग अजीब गरीब एक हंगामा हो गया अब बाद लोग ये थे रुकू ही में थे इमाम आया उसने किरात की भी रुकू में गया तो वो रुकू में मिल गए बाज खड़े हो गए अजीब गरीब सूरत हाल थे तो लोग जमा हो गए इमाम के पास गए और कहा जनाब आप याद रखा करें सज्जा तिलावत का ऐलान कर दिया करें उन्होंने सोचा इमाम साहब कहेंगे हाँ मैं भूल गया था चलो मोजिन को कह देता हूँ भाई मुझे याद दिला दिया करें तो इमाम साहब ने एक नई बात कह दी उन्होंने कहा ये बताओ सज्जा तिलावत का ऐलान रसूलुल्लाह ने किया कभी साहबा ने किया ताबईन ने किया तबा ताबईन ने किया आय में मुश्तहिदीन ने कभी किया इमाम आजम ने कभी किया इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह के नेक बंदे इतने गुजरे हैं मक्के मदीने में भी सज्जा तिलावत का ऐलान नहीं होता तो लिहाजा सज्जा तिलावत का ऐलान करना यह बिदत है लिहाजा मैं नहीं करूंगा तो लोगों ने कुछ और बातें की तो इमाम गुस्से में आ गया और कहने लगा मैं बिदती नहीं हूं मैं जो है सज्जा तिलावत का ऐलान नहीं करूंगा तो लोग बाहर निकले तो वो बातें कर रहे थे वो कहने लगे अजीब बात है सद तिलावत का ऐलान बिदत है और इतने लोगों की नमाजें टूट गई ये कौन सी सुन्नत है भाई नमाजें खराब हो रही है ये कौन सी सुन्नत है तो क्या है कि बिदत के मफहम को इंसान ना समझे तो कई मौाक़े पर वो गुमराह हो जाता है और ऐसी ऐसी हरकत कर देता है कि इंसान उनकी हरकतों को देखकर परेशान होता है मिसाल के तौर पर अब देखें एक आमतौर पर आयत पड़ी जाती है अलियम अकमल तुलकुम दीन अकुम आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया अब ये आयत हिज्जतुल विदा के मौके पर जब हजूर ने आखिरी हज किया उस वक्त नाजिल हुई तो कहते हैं कि जब ये अल यौम अकमल तो लकुम दीन हकुम नाजिल हो गई तो अब इसके बाद जो भी नया काम ईजाद किया जाएगा वो सब बिदत है तो साहबा कराम ने बुजुर्गों ने जितने नए काम ईजाद के नवजुबिल्ला मजालिक सारे बिदत हो गए तो इस आयत को समझा गया नहीं अल यौमा अकमल तो लकुम दीन अकुम का मतलब ये है कि कुरान मजीद फ़ुकान हमीद की वही का सिलसिला जो जारी था उसमें जितने उसूल बयान करने थे वो सारे बयान मुकम्मल हो गए फिर चंद दिन तक वही नाजिल हुई लेकिन उसमें कोई उसूल की वही नाजिल नहीं हुई जितने अहकाम के उसूल कुरान ने बयान किए वो उसी वक्त मुकम्मल हो गए तो अल यौम अकमल तो लकुम दीन अकुम के माना यह है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन के सारे उसूल मुकम्मल तौर पर नाजिल कर दिए अब कोई भी नया काम हो तो उस उसूल से देख लें मिसाल के तौर पर आप देखें हमारे यहां पर बच्चों को छह कलमे याद कराए जाते हैं लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि भाई साहब कराम ताबईन तबा ताबईन जितने बुजुर्गान दीन हैं क्या उन्होंने छह कलमे इस तरीके से बच्चों को याद करवाए कि अव्वल कलिमा तयब दूसरा कलमा शहादत तीसरा कलमा तमजीद चौथा कलमा तोहीद पांचवा कलमा इस्तफार छठा कलमा रद्द कुफर अब रद्द कुफर और ये जितने नाम हैं और ये तरतीब है ये ना सहाबा से साबित होती है ना बुजुर्गान दीन से साबित होती है ना जाने किसने ये ईजाद किया है लेकिन जिसने भी ईजाद किया है बुरी चीज नहीं है कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है इसी तरह ईमान मुजमल और ईमान मुफसल बच्चों को याद करवाए जाते हैं आपको इसका नाम हदीस में नहीं मिलेगा ईमान मुजमल ईमान मुफसल और ना सहाबा कराम के अकवाल में इन चीज़ों के ये नाम मिलेंगे तो जिसने भी ईजाद किया है सदियों बाद ईजाद किया गया लेकिन चूंकि ये कुरान हदीस के खिलाफ नहीं कोई हरज नहीं एक हदीस पेश की जाती है खैर कुरून करनी सुमल लदीन यलू नहम सुमल लदीन यलू नहम कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है इसके बाद उन लोगों का दौर है जो उनसे मिले हुए हैं उनके बाद उसका दौर है जो उनसे मिले हुए हैं खैरुल कुरून तो कहते हैं पहले दौर से मुराद है साहबा का दौर दूसरे दौर से मुराद ताबईन का दौर तीसरे दौर से मुराद तब ताबईन का दौर देखिए रसूलुल्लाह ने यह जरूर फरमाया कि सबसे अच्छा दौर वो दौर है जो मुझसे मिला हुआ है यानी साहबा कराम का दौर फिर इसके बाद तबईन का दौर फिर इसके बाद तब ताबईन का दौर लेकिन ये हदीस में ये नहीं है कि इस दौर में जो चीज ईजाद हो वो सुन्नत और इस दौर के बाद जो चीज ईजाद हो वो बिदत ऐसा इस हदीस में कोई वजात नहीं बल्कि इससे मुराद ये है कि जैसे जैसे जमाना गुजरता जाएगा नेक लोग कम होते जाएंगे बुरे लोग ज्यादा होते जाएंगे इसका ये मतलब है और इसका यह भी मतलब नहीं कि इन तीनों जमानों में कोई बुराई होगी नहीं ऐसा भी नहीं इन तीनों जमानों में बहुत सारे गलत काम भी हुए तो हम कामों को देखते हैं ना कि जमाने को देखते हैं मसल मुनाफिकीन कौन से जमाने में थे हजूर के दौर में थे खारजी कौन से जमाने में थे साहबा कराम के दौर में थे हजाज बिन यूसुफ जिसने दस हजार साहबा कराम को खुद कत्ल किया शहीद किया और एक लाख से ऊपर मुसलमानों को शहीद किया जिसने इतने जुल्म सितम की आंधियां चलाई ये हजाज बिन यूसुफ साहबा कराम के दौर में था हजाज बिन यूसुफ इतना बदबक था कि साहबा कराम इसके पीछे नमाज भी अदा नहीं करते थे जुम्मे का दिन होता तो वो जहर पढ़कर आते और इसमें भी जो नहीं आता हजार भी यूसुफ जिनको जानता था तो उसको इसने धमकी दी हुई थी जो मेरे पीछे जुम्मा पढ़ने नहीं आएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा तो जो जिन जिन साहबाई कराम को वो जानता था वो जोहर घर पे पढ़कर फिर वहां पर ऐसे ही हाजिरी दे देते और जो जिन्हें वो नहीं जानता था वो उस दिन अपने घर से ही नहीं निकलते थे तो इतना जालिम सफाक कि खुद जुम्मे की नमाज अदा करता और साहबा इसके पीछे जुम्मा नहीं पढ़ते थे तो आप बताइए ये किस दौर में था साहबा कराम के दौर में तो हम ये नहीं देखेंगे कि किस दौर में क्या काम हुआ बल्कि कुरान और हदीस के उसूल हैं अगर उसूल के मुताबिक काम हो जिस दौर में हो वो सही है और उसूल से हटकर हो तो जिस दौर में हो वो गलत है जब इंसान बिदत को नहीं समझता तो बहुत सारी खामियां पैदा हो जाती हैं और वो मुसलमान पर बिला वजह बिदत का इल्ज़ाम लगाता है और किसी मुसलमान को बिदत ही कहना ये बहुत बड़ी गाली है बल्कि हकीकत यह कि उसको कत्ल करने से भी बुरी चीज है कि किसी मुसलमान को जो बिदती नहीं उसको बिदती कह देना क्योंकि हदीस बाग में बिदती जहन्नम का कुत्ता है अल्लाह उसकी तोबा भी कबूल नहीं करेगा हमारे एक दोस्त हैं मीर गुलाम यासीन इनके वालिद मीर लाइक अली ये जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और वो बांग्लादेश बन गया तो उस वक्त वो न्यूयॉर्क में थे और पाकिस्तान को दो टुकड़े होने से बचाने की वो कोशिशें कर रहे थे और मीर लाइक अली कायदे आजम के बहुत करीबी थे लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होने से वो बचा ना सके और बांग्लादेश बन गया वो न्यूयॉर्क में थे ये खबर सुनकर इनको हार्ट फेल हुआ और इनका इंतकाल हो गया उस वक्त जो सदर थे यहाँ पर याहिया खान उन्होंने मीर गुलाम यासीन साहब को फ़ोन किया और कहा कि उनकी मैयत पाकिस्तान लाने में अगर किसी किस्म की भी आपको हाजत हो कोई ज़रूरत हो हमें कहें हम अपने खर्चे पर जो है इनके लिए खसूस तैयारा भेजने के तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है उनकी तदफीन पाकिस्तान में हो कि अमेरिका में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ मरहूम की एक वसीयत थी कि अगर हो सके तो मेरी तदफीन जन्नतुलबकी में करना तो इनकी ये ख्वाहिश है तो या खान ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि कायदा यह है कि जो मदीना मनवरा में इंतकाल करेगा उसी की तदफीन होती है तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हमें आपसे कोई काम नहीं है लेकिन याहिया खान के दिल में ना जाने क्या सूझी इसने उस वक्त के शाह को फ़ोन किया और ये सिचुएशन बताई कि इनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए बहुत हैं और तो सऊदी अरब का जो शाह था वो मान गया और फिर खसूसी तैयारे में उनकी मैयत जो है वो न्यूयॉर्क से मदीना मनवरा पहुंचाई गई और उनकी तदफीन जो है जन्नतुलबकी में हुई अरे ये कराची में होते थे अब अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मनवरा में होते हैं मीर गुलाम यासीन साहब और जब फ़कीर की उनसे मुलाकात हुई तो उनकी बड़ी कैफियात होती हैं मस्जिद नबी शरीफ में वो किसी से बात नहीं करते आंखों से हर वक्त आंसू जारी रहते हैं और ऐसा आशिक मैंने आज तक देखा नहीं है इनका अं-, अंदाज चलने का और बिल्कुल अजीब गरीब कैफियात होती हैं तो मुझे भी मिले तो वो इशारे में बात कर रहे थे और फिर अलग हटे और फिर उन्होंने एक दो बातें की और वो फिर रवाना हो गए तो वो एक दिन मिले तो बता रहे थे कि यहाँ जो लोग हैं बाज इतने नादान हैं बिदत के मसले में कि हर चीज को उन्होंने बिदत बना के रखा हुआ है हमने कभी क्या मामला हुआ तो कहने लगे हुआ ये कि मैं रियाजुल जन्ना में था जोहर की नमाज हो चुकी थी अब मैं रियाजुल जन्ना में क्या कर रहा था कि मुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाजुल जन्ना में किस किस जगह नमाज अदा की है तो मैं उन तमाम जगहों पर जा जाकर दो रखा नफिल पढ़ता दुआ करता फिर दूसरी जगह पे जाता दो रखा नफिल पढ़ता दुआ करता तो ये मेरा मामूल है कि जोहर से लेकर असर तक मैं नवाफिल पढ़ता रहता हूँ दुआ करता रहता हूँ रियाज जन्ना के मुख्तलिफ जगहों पर नवाफिल पढ़ता हूँ तो कहा कि एक मुतवा जो है मुझे रोज देखता था एक दिन मुझे कहने लगा ता लेना फिर तो मैं उसके पास गया कहने लगा माँ तफल ये तू क्या कर रहा है कहा सोला तो सलाह पढ़ रहा है नमाज पढ़ रहा है बोला कौन सी नमाज है नमाज तो पांच होती है फजर जोहर असर मगरब ईशा ये छठी नमाज की ईजाद बिदत है उसने कहा मैंने थोड़ी कहा है कि ये कोई फर्ज नमाज है मैं तो नफिल पढ़ रहा हूँ और रसूल्लाह ने नफिल के लिए कोई वक्त मुकर नहीं किया तो कहने लगा ये बताओ जहर के बाद रसूलुल्लाह ने इतने नवाफिल पढ़े हैं दो रकात इधर दो रकात इधर दो रकात इधर दो रकात इधर तो ये तो बिदत कर रहा है और बिदत की सारी वो वहीदी वो सुनाने लगा तो वो कहते हैं मैंने उसको कहा बड़े अफसोस की बात है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने से रोके यानी देखें बिदत की तारीफ ना समझने की वजह से नवाफिल कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह के करीब होता है वह सज्जे की हालत में तो सज्जे की कसरत करो तो वो नवाफिल अदा कर रहे हैं और वो कह रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने जोहर से लेकर असर तक नवाफिल अदा नहीं किए लिहाजा वो बिदत हो गए हालांकि ऐसी कोई बात नहीं बिदत की तारीफ में आप समझ चुके बिदत उसे कहते हैं जो सुन्नत को मिटाने के लिए हो जिससे रसूल्लाह ने और कुरान हदीस के उसूलों ने मना किया हो उन उसूलों के खिलाफ कोई काम ईजाद किया जाए जिससे दीन इस्लाम को नुकसान हो वो बिदत है और इसी तरह वो सारे अकायद बिदत हैं कि जो अकायद कुरान और हदीस के खिलाफ है और सबसे बड़ी जो बिदत है वो अकायद की बिदत है ये बात याद रखें कि जो मुसलमानों पर शिरक और बिदत का इल्ज़ाम लगाए वो सबसे बड़ा बिदती है जो रसूलुल्लाह के इल्म पर एतराज़ करे वो सबसे बड़ा बिदती है जो नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि के मुतालिक कहे इन्हें दीवार के पीछे का इल्म नहीं है जो हजूर की हयात तैयबा का इनकार करे जो नबी अक्रम सल्ला वसलम की तोहन व बेअदबी करे जो हजूर का जिक्र मोहब्बत से न करे मोहब्बत रसूल घटाने की कोशिश करे ये सारी बिदतें हैं और ये सबसे बुरी बिदतें हैं कि ये अकायद की बिदत है और जो गंदा अकीदा है वो ऐसी बिदत है कि फरमाया कि ऐसे शख्स को तोबा की तोफीक भी नहीं मिलती कैसे इसलिए कि वो शख्स रसूलुल्लाह की तोहन कर रहा है लेकिन वो समझ रहा है मैं सही कर रहा हूँ तो जब इंसान गलत काम को सही समझे तो फिर उसे हिदायत कैसे मिल सकती है तो सबसे बुरी जो बिदत है वो अकायद की बिदत है और अमाल में बिदत वो अमाल है कि जो खिलाफ शरा हों दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए हों और अल्लाह तबारक व ताली कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नुकसान पहुंचाने के लिए मिटाने के लिए हों अब नवाफिल जोर के बाद पढ़े जाएं रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया हाँ असर के बाद नवाफिल पढ़ने से मना है फजर की नमाज के बाद नवाफिल नहीं पढ़ सकते मकरू वक्त में नवाफिल नहीं पढ़ सकते लेकिन ईशा की नमाज के बाद आप पूरी रात नवाफिल पढ़ें कोई हमें शरीय ने मना नहीं किया अल्लाह तबारक व हमें इस मफहम को समझने की तोफीक अता फरमाए ये मुख्तसर चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ की गई आप इसकी मजीद तफसील सुनना चाहें तो ये कैसेट या सी डी आप हासिल करें बिदत की हकीकत और तंग नजरी का बबाल ये कैसेट आप खुद भी हासिल करें अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें इसमें बहुत आसान अंदाज में बिदत का पूरा मजमून समझाया गया है बसमीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक मौला परवरदिगार हम सब का यहाँ पर आना कबूल मंजूर फरमा अल्लाह हमें ईमान का तहफ़ अता फरमा करीम परवरदिगा कुरान हदीस के नूर से हमें रोशन मुनवर फरमा दीन की सही समझ अता फरमा अल्लाह ए करीम परवरदिगार हमें दीन का दागी बना दे कुरान का खादिम बना दे नूर कुरान आम करने वाला बना दे अल्लाह तेरे बंदे तेरी बंदियां अपने काम काज छोड़कर तेरे दीन की मोहब्बत में यहां पर आए सबकी खाली झोलियों को मुरादों से भर दे सबका बेड़ा पार फरमा सबकी दिली जायज तमन्नाएं दुआएं और आर्जुएं जो की हैं जो आइंदा करेंगे उनमें से जो हमारे हक में बेहतर हो सब कबूल मंजूर फरमा सबकी मुश्किल को आसान फरमा मुसीबतों को दूर फरमा बलाओं को दूर फरमा बीमारियों को दूर फरमा कर्जों को दूर फरमा जिसका लेना है लेना आसान फरमा जिसका देना है देना आसान फरमा जितने मुसलमान मरहूमिन हैं सबकी मफफरत फरमा हमारी भी मफफरत फरमा ए मालिक जादू टोने नजरे बद और आसेब से हमेशा हमें महफूज फरमा हमारी जान माल इज्जत आबरू ईमान और अमल की हिफाजत फरमा ए अल्लाह ए मालिक हमारे घराने को जन्नती घराना बना दे घर के हर फर्द को वली कामिल बना दे आशिक रसूल बना दे हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा रिश्तों की रुकावटें दूर फरमा जिनके रिश्ते हो गए आसानी अता फरमा जो अपने घरों में है सुख और चैन अता फरमा जो मांगा अता फरमा दे जो ना मांग सके वो भी अता फरमा ये सारी दुआएं तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा इन अल्लाह युसल्लून अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين